यादें स्वतंत्रता संग्राम की वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद फौज मेरे देशवासियों भारत अब आजाद हुए बिना नहीं रह सकता लेकिन इस आजादी के लिए कुर्बानी चाहिए इस आजादी को आपकी ताकत चाहिए आजादी की लड़ाई में आपने अपने बेटों को दिया है पर अब स्वतंत्रता की देवी इतने में ही संतुष्ट नहीं होगी उसे तो ऐसे आत्म बलिदानी चाहिए जो अपने प्राणों की बाजी लगा दे जो हंसते हंसते मौत को गले लगा ले जो अपने खून की नदी में दुश्मनों को डुबो दे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यही आजादी की पुकार है यही आजादी की मांग है हम जाएंगे हम जाएंगे था 22 सितंबर 1944 का दिन जब रंगून में नेताजी सुभाष बोस एक सभा में अपने देशवासियों से बात कर रहे थे ये सभा शहीद यतीन्द्र दास की यादगार में आयोजित की गई थी आजादी की बगिया को अपने खून से सींचने वाले नेताजी रंगून की सभा तक कैसे पहुंचे इसकी एक लंबी रोमांचक कहानी है वो 16 जनवरी 1941 की रात थी अंग्रेज दूसरे महायुद्ध में कमजोर पड़ते जा रहे थे और इसी रात सुभाष बोस ने अंग्रेजों की कमजोरी का फायदा उठाया नेताजी आज़ादी का दृढ़ संकल्प लिए कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित मकान से अपनी साहसिक यात्रा पर निकल पड़े भैया जी आपकी तारीफ मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ जी हुजूर पर आपका नाम जियाउद्दीन और आप पेशावर तक जा रहा हूँ हम्म। आइए जियाउद्दीन साहब काबुल में आपका सेवक उत्तम चंद आपका स्वागत करता है हम्म। आइए आइए आइए सुभाष बाबू आप आप यहां तक कैसे पहुंचे हाँ उत्तम चंद पेशावर तक तो अकेला आया जी वहां से भगत राम तलवार के साथ यहां तक पहुंचा हाँ, जी भगत राम ने रहमत खान नाम रखा और मैं गूंगा बहरा बना रहा और हमने यहां तक का सफर पूरा किया सुभाष बाबू अब आगे का कार्यक्रम क्या है हम्म यहाँ रूस जर्मनी और इटली के राजदूतों से संपर्क करना है जी वैसे उत्तम चंद मैं रूस जाना चाहता हूँ देखो तुम तो काबुल में काफी अरसे से दुकान चला रहे हो जी जी तुम इस काम में मेरी मदद करो हजार जान से सुभाष जी आइए सुभाष जी महीना बीत चुका है पर अभी तक अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया नहीं उत्तम चंद आज मेरी बात इटली के राजदूत से हुई और मुझे अब ऑलैंडो मेजोता के नाम से वीजा मिल गया है ये तो बहुत अच्छा हुआ मैं मैं आपके जाने की तैयारी करता हूं हम्म। इसके बाद सुभाष बोस रूस पहुंचे लेकिन अफसोस वहां उन्हें संतोषजनक समर्थन न मिल सका और फिर शुरू हुआ नेताजी का एक और रोमांचक सफर सुभाष बोस जर्मनी पहुंचे और वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की जर्मनी के विदेश मंत्री ने हिटलर की ओर से सुभाष जी का स्वागत किया नेताजी ने अपनी तीन इच्छाएं विदेश मंत्री को बताई पहली वहीं रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार दूसरी युद्ध बंदियों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाए और तीसरी धुरी राष्ट्र भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करें जर्मनी के विदेश मंत्री ने केवल तीसरी इच्छा न मानते हुए बाकी दो इच्छाओं को मान लिया और इसका परिणाम सुभाष बोस जिंदाबाद सुभाष बोस जिंदाबाद माता की जय माता की जय इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद मेरे देशवासियों ये खुशी की बात है कि 30 अक्टूबर 1941 के दिन बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना हुई और आज 2 नवंबर के दिन हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि आज से हम सभी एक दूसरे को जय हिंद कहकर अभिवादन करें जय हिंद जय हिंद जय फ्री इंडिया सेंटर की शाखाएं रोम और पेरिस में भी खोली जाएंगी नेताजी की नेताजी अपने प्रयास में निरंतर अनेक बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे सुभाष बोस को दक्षिण पूर्व एशिया से निमंत्रण मिला निमंत्रण भेजा था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने जिसकी स्थापना की थी पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने इसमें उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में बसे कई भारतीयों से भी सहायता ली थी उनके साथ वहां बड़ी संख्या में भारतीय युद्धबंदी भी थे जो सन 1941 में जापान के युद्ध में प्रवेश के बाद जापानी सेना द्वारा पकड़ लिए गए थे रास बिहारी बोस ने सेना की कमान संभालने की जिम्मेदारी एक युद्धबंदी जनरल मोहन सिंह को सौंपी उनके प्रयासों को मजबूत करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने सुभाष बोस को जो निमंत्रण भेजा था वो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया सिंगापुर पहुंचने के लिए सुभाष बोस को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा जर्मनी से सिंगापुर की ये एक लंबी और थकान से भरी यात्रा थी जो उन्होंने एक सबमरीन यानी पनडुब्बी से पूरी की इस यात्रा में उनका साथी था आबिद हुसैन जब सुभाष बोस सिंगापुर पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया राज बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता का भार सुभाष बोस को सौंप दिया सुभाष बोस ने भी आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली अपनी इस फौज की अगुवाई करते हुए 1944 में नेताजी रंगून पहुंचे जहां से आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया और इसकी अंतिम परिणति दिल्ली के लाल किले में आईएनए ट्रायल के रूप में हुई यानी आज़ाद हिंद फौज पर अंग्रेज़ी सरकार ने लाल किले में फौजी मुकदमा चलाया नवंबर 1945 से 30 दिसंबर 1945 तक ये मुकदमा चला अभियोग था ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध और ऐसे सैनिकों की हत्या जो आजाद हिंद फौज से भाग गए थे अभियुक्त थे आजाद हिंद फौज के general Shahnawaz Khan lieutenant colonel GS Dhillon और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेम कुमार सहगल इनकी पैरवी का नेतृत्व किया भूला भाई देसाई ने और सरकारी वकील थे advocate general N P engineer आज के गवाह है सूबेदार मेजर बाबूराम इन्हें गीता की कसम दिलाई जाए मैं जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा हम्म सरकारी वकील इंजीनियर आप सवाल कर सकते हैं बाबूराम क्या आप सिंगापुर की लड़ाई में शामिल थे सर लड़ाई शुरू होने से पहले मैं अंग्रेजी फौज में सूबेदार मेजर था ओह 16 फरवरी 1942 के दिन हमने सिंगापुर में जापानियों के सामने हथियार डाल दिए थे फिर क्या हुआ हमें फिर बादावरी कैंप भेज दिया गया जहां और भी भारतीय युद्धबंदी थे और यही ब्रिटिश सेना की ओर से हमें कर्नल हंट ने जापानियों को सौंप दिया मैं कर्नल हंट तुम सभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ब्रिटिश सरकार की ओर से जापानी सरकार को सौंपता हूं तुम सब अभी तक हमारा ऑर्डर मानता था और अब से तुम सब जापानी सरकार का ऑर्डर मानेगा मेजर फुजीवारा अब आप कमान संभालिए जवान अब तुम जापानी सरकार की कमान में हो और जापानी सरकार की ओर से मैं तुम्हें कैप्टन मोहन सिंह को सौंपता हूं ये तुम्हारे कमांडर होंगे और एक बार कैप्टन मोहन सिंह ने कहा कि मेरे हिंदुस्तानी भाइयों अंग्रेज आपको जापानियों को सौंप गए हैं लेकिन जापानी आपको बंदी रखने के हक में नहीं है क्योंकि जापानियों के पास अनाज की कमी है हम अब खुद इंडियन नेशनल आर्मी बनाएंगे जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई करेगी और हम फिर सब इस बात के लिए तैयार हो गए हम्म मुलजिम शाहनवाज खान से कब मुलाकात हुई मार्च 1942 में कैप्टन शाहनवाज खान ने एक सभा में हमें भाषण दिया था क्या कहा था इन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ना चाहिए और फिर वही उन्हें स्वयं सेवकों की लिस्ट भी दी गई थी आजाद हिंद फौज बनने के बाद इसे कहां ठहराया गया बदावरी कैंप में बदावरी कैंप में क्या होता था इस कैंप में ड्रिल होती थी फिर क्या हुआ हमें कुछ दिनों के बाद हथियार दिए गए ये ये हथियार कहां से आए ये हथियार हिंदुस्तानी सेना के थे जो सिंगापुर में हथियार डालते समय इस सेना से छीन लिए गए थे हम्म ठीक और आजाद हिंद फौज की वर्दी की खास निशानी दाई बाजू पर सफेद बिल्ला होता था बिल्लों पर हिंदुस्तान का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा बना था जिस पर शेर बना होता था और आई एन ए लिखा था इसके अलावा सीने पर भी तिरंगा लगा होता था हम्म। सर मुझे इतना ही पूछना है जीतना है आज मिस्टर अय्यर की गवाही होनी है हाँ पर न जाने ये मुकदमा कब खत्म होगा आखिर अंग्रेज सरकार करना क्या चाहती है एक बात है भाई हाँ। हमारी ओर से भूला भाई देसाई सुना है बहुत जोर की पैरवी कर रहे हैं मिस्टर देसाई आप आज के गवाह मिस्टर अय्यर से कुछ पूछना चाहते हैं yes sir proceed mister Iyer क्या आप 1942 में बैंकॉक में थे जी हाँ मैं बैंकॉक में ही था आपने पूर्वी एशिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों का अधिवेशन देखा जी हाँ पर मैं चीन जापान बर्मा सुमात्रा इंडोचीन वगैरह मुल्कों में बसे हिंदुस्तानियों के बैंकॉक में हुए सम्मेलन में शामिल हुआ जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस हम्म। पूर्वी एशिया में कितने हिंदुस्तानी थे यही करीब पच्चीस लाख मिस्टर अय्यर क्या आप किसी संस्था में शामिल हुए हाँ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में जिसका उद्देश्य था हिंदुस्तान को आजाद कराना इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में था और शाखाएं Burma Siam Malaya Indonesia Shanghai Java Sumatra Hong Kong Philippine और जापान में थी और सदस्यों की संख्या करीब साढ़े सात लाख बैंकॉक अधिवेशन का मूल प्रस्ताव क्या था सुभाष बोस को जापानी सरकार द्वारा जर्मनी से बुलाया जाए जिससे सुभाष बोस हमारे पथ प्रदर्शक बने और इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया जाए सर मिस्टर अय्यर से मैं कुछ और नहीं पूछना चाहता अगर इजाजत हो तो मैं गवाह कैप्टन नाक से सवाल करना चाहूंगा इजाजत है कैप्टन नाक क्या आप लगातार आजाद हिंद फौज के सदस्य रहे मेरा मतलब आपकी गिरफ्तारी तक जी नहीं बीच में कुछ समय के लिए नहीं था हम्म फौज की नौकरी तुमने अपनी इच्छा से की थी जी हाँ आजाद हिंद फौज का पहला कमांडर कैप्टन मोहन सिंह दिसंबर 1942 में उसे गिरफ्तार क्यों किया गया क्योंकि क्योंकि उसकी जापानियों से अनबन हो गई थी और उसने घोषणा की थी कि हम अंग्रेजों से ही नहीं जापानियों से भी जरूरत पड़ने पर लड़ेंगे आजादी की राह में कोई भी बाधा आएगी हम लड़ेंगे हम्म। अब मिस्टर अय्यर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि सुभाष जी सिंगापुर कब पहुंचे तीन जुलाई 1943 के दिन नेताजी सुभाष बोस सिंगापुर पहुंचे इसके बाद पूर्वी एशिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ जिसमें रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता सुभाष बोस को सौंपी उस समय मैं वही था सुभाष बोस इंकलाब मेरे देशवासियों आजादी पाने के लिए अब समय आ गया है कि हम हथियार उठा लें मैं अपने सभी देशवासियों से एक झंडे के नीचे इकट्ठे होने का अनुरोध करूंगा आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने देश की आजादी के लिए एक मत होकर इकट्ठे हुए हैं और अगर हम लड़ने को तैयार हैं बलिदान के लिए तैयार हैं तो आजादी अवश्य हासिल की जा सकती है मुझे विश्वास है कि हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे स्वतंत्र भारत अमर रहे जय हिंद जय हिंद पांच जुलाई के दिन नेताजी सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और परेड की सलामी लेने के बाद उन्होंने कहा आजाद हिंद फौज के जवानों आज मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण दिन है आज मुझे यह सौभाग्य मिला है कि सारे संसार में मैं ऐलान कर रहा हूं कि भारत की आजादी के लिए सेना तैयार हो गई है अब यह सेना संगठित होकर सिंगापुर पहुंची है जो कि एक जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य का किला था ये वो सेना है जो भारत के कंधों से ब्रिटिश साम्राज्य का जुआ ही नहीं उतारेगी बल्कि आजाद भारत की मजबूत सेना भी बनाएगी हम्म कैप्टन नाग क्या आप इस दस्तावेज को पहचानते हैं जी हाँ ये नेताजी द्वारा जारी किया गया ऑर्डर ऑफ द डे है कैप्टन नाग क्या आप आजाद हिंद सरकार के गठन की सभा में थे 21 अक्टूबर 1943 के दिन इस सभा में मैं दर्शक के रूप में हाजिर था क्या सभी ने सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ ली जी नहीं सिर्फ मंत्रियों ने ली जिन्हें उसी समय नेताजी ने चुना था सर कैप्टन नाग से और कुछ नहीं पूछना चाहता हम्म इस गवाही में 21 अक्टूबर 1943 का जिक्र है इसे आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा के दिन के रूप में इस अदालत ने रिकॉर्ड किया है इस बात को नोट किया जाए अब मुझे मिस्टर अय्यर से सवालात करने की इजाजत दी जाए इजाजत है mister Desai thank you sir mister Iyer Azad Hind सरकार की घोषणा के बाद कोई खास कार्रवाई हुई ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई हम्म, इस सरकार की आमदनी का जरिया भारतीयों से चंदा मिलता था और ये पैसा कहाँ रहता था आजाद हिंद बैंक में जिसका मैं अध्यक्ष था इस सरकार और जापान के बीच कैसे संबंध थे जैसे दो सरकारों के बीच होने चाहिए दैट्स ऑल सर 12 जुलाई 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में वहां की महिलाओं को संबोधित करते हुए उनसे आजाद हिंद फौज में भर्ती होने की अपील की थी जिसका उत्तर बहुत उत्साहजनक था महिलाओं में आजाद हिंद फौज में भर्ती होने की होड़ सी लग गई थी 22 अक्टूबर को रानी झांसी के जन्मदिन के अवसर पर रानी झांसी रेजिमेंट का जन्म हुआ नेताजी ने कहा था रानी झांसी ने 20 वर्ष की उम्र से ही युद्ध में भाग लेना प्रारंभ किया उनके विरोध में लड़ने वाले कमांडर ने कहा था कि वो विद्रोहियों में सबसे वीर थी भारत फिर से अनेक झांसी की रानियां उत्पन्न कर सकता है आप में से कितनी ही बहनें ऐसा सामर्थ्य रखती हैं मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार फिर से तैयार हो जाओ आप सब देखेंगी कि हम सभी स्वाधीन भारत में सांस ले रहे होंगे ये रेजिमेंट वैसे तो नर्सिंग के काम के लिए थी लेकिन इनको इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई थी कि वक्त पड़ने पर युद्ध में भी भाग ले सकें रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व सौंपा गया कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को आज के गवाह हैं इलियास खान मैं जो कहूंगा सच कहूंगा तुम तो आजादित फौज की किस रेजिमेंट में थे मुझे पहले आजाद ब्रिगेड में लाया गया बाद में मेरी बदली सुभाष ब्रिगेड में हो गई क्या तुम कर्नल शाहनवाज खां को जानते हो जा क्यों नहीं यही तो है जो सामने खड़े हैं इन्होंने ही हमें हिम्मत दी साहस दिया इन्होंने ही कहा था कि हमें कार नहीं वीर और साहसी लोगों की जरूरत है हमारी आजाद हिंद सरकार किसी के रहमो करम पर नहीं है अगर कोई जापानी तुम्हें एक थप्पड़ लगाए तो तुम उसे तीन थप्पड़ लगाओ हमारी लड़ाई हिंदुस्तान की आजादी के लिए है ना कि जापानियों के लाभ के लिए दैट्स ऑल सर अब मैं जापानी जनरल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं इजाजत है जनरल काताकुरा मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान में दाखिल हुई हाँ मैंने रिपोर्ट देखी थी हर अप्रैल 1946 में मिस्टर सुभाष बोस और जापानी हाईकमान ने जनरल शाहनवाज खान को बधाई के तार भेजे थे तार क्यों भेजे क्योंकि आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान में दाखिल हो चुकी थी और इस वक्त इम्फाल अभियान शुरू हुआ युद्ध तेजी पर था पर अंग्रेजों के टैंक इस सेना पर भारी पड़े और बारिश ने तो हालात और भी बिगाड़ दिए लेकिन फिर भी आजाद हिंद फौज डटी रही अंततः नेताजी के आदेशों की वजह से उसे पीछे हटना पड़ा और इस तरह इम्फाल अभियान सफल न हो सका उधर मित्र राष्ट्रों की सफलता के कारण जापान की स्थिति बिगड़ती जा रही थी अंग्रेजों की सेना तेजी से बर्मा की ओर बढ़ रही थी आजाद हिंद फौज का कार्यालय बैंकॉक भेजना पड़ा नेताजी को भी बर्मा से बैंकॉक भेजा गया मई 1945 में रंगून पर अंग्रेजों का अधिकार होने से हालात और बदतर हो गए अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाने से जापानियों का मनोबल टूटा और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया मिस्टर देसाई इन गवाहियों के बाद आप कुछ कहना चाहता है यस सर अगर हिंदुस्तानियों ने ब्रिटेन के लिए दुनिया में जाकर जर्मनी इटली और जापान से लड़ाई की तो फिर अपनी आजादी की खातिर लड़ना क्यों ठीक नहीं है मुलजिमों ने जो कुछ किया अपने देश की आजादी के लिए किया चाहे वो दुश्मन की हत्या ही क्यों ना हो क्या अंग्रेज सिपाहियों ने हजारों मासूम लोगों की हत्या नहीं की क्या उन पर किसी अदालत में मुकदमा चलाया गया अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जनरल शाहनवाज खां कर्नल ढिल्लो और कर्नल सहगल को क्यों मुलजिम माना जा रहा है यह कोई राजनीतिक मुकदमा नहीं है बल्कि जाति के अधिकारों का मुकदमा है सर फैसले के समय मेरी गुजारिश है कि राजनीतिक नजरिया ना अपनाया जाए मुकदमे के दौरान देश भर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे लाठी और गोली से हजारों लोग मारे गए इनमें ज्यादातर युवा छात्र थे पर मुकदमे के फैसले पर तीनों मुलजिमों को दोषी ठहराते हुए भी इन्हें आजीवन कारावास से बरी कर दिया गया और यह भी फैसला हुआ कि सम्राट के खिलाफ युद्ध का कोई मुकदमा नहीं चलेगा जापानी सूचना माध्यम के स्रोत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई लेकिन इसके बारे में आज भी मतभेद हैं सुभाष बोस को शत शत प्रणाम